क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं ताकि वो ये देखते कि उनसे पहले जो लोग थे उनका अंजाम कैसा हुआ वो ताकत में इनसे ज्यादा मजबूत थे और उन्होंने जमीन को भी जोता था और जितना इन लोगों ने उसे आबाद किया है उससे ज्यादा उन्होंने उसको आबाद किया था और उनके पास उनके पैगंबर खुले खुले दलाइल लेकर आए थे चुनाचे अल्लाह तो ऐसा नहीं था कि उन पर जुल्म करे لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے